हानिशं भवन्तु नः शं रात्रि प्रतिधीयताम् शन्न इन्द्राग्निभवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या शन्न इन्द्रापूषणावाजसातौ सम इन्द्रा सोम सुविताय संयोग के ही प्रसंग में ईश्वर से मंत्र में प्रार्थना है हमारे लिए आहानी दिन भवंतु कल्याणकारी होवे रात्रि शम नह रात्रि हमारे लिए कल्याणकारी होवे शन्न इंद्राग्नि भवताम अवो भी रक्षा कारणों के साथ रक्षा साधनों के साथ इंद्राग्नि इंद्र और अग्नि वायु और चंद्रमा सूर्य और अग्नि इंद्राग्नि लिया है ये दोनों अपनी रक्षा शक्तियों के साथ हमारे लिए कल्याण कारक सुख कारक गए शन इंद्रा वरुणा वायु और अग्नि ये हमारे लिए कल्याणकारी होवे रात हव्या रात को यानी दान को सुख को देने वाले होवे न इंद्रा पोषणा वाजसातो और वाजसात में युद्धों में संग्रामों में पुरुषार्थों में उद्योग क्षेत्रों में पोषणा राजा और प्रजा कल्याणकारी होवे सोमा सुविताए और उत्पादन के लिए सोम कल्याणकारी संयोग सुखकारी होवे तो हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं या व्यक्ति हैं राजा आदि सभी के सभी हमारे लिए सुखकारी होवे ऐसी इसमें प्रार्थना की गई है पहली प्रार्थना तो है दिन हमारे लिए कल्याणकारी होवे तो दिन कैसे कल्याणकारी होते हैं भी कभी आपने सोचा होगा बस आज का दिन निकल जाए तो जैसे आज का दिन निकल जाए तो वो कैसी अवस्था होती है भी मतलब रोग बहुत तीव्र होता है रात्रि में ज्वर हो या और कुछ हो तो ऐसा लगता है नहीं किसी तरह से रात निकल जाए हाँ, रात्रि में हो जाए तो लगता है बस रात किसी तरह निकल जाए नहीं तो ये मुझे साथ ले जाएगी बस दिन आ जाए तो धैर्य लगता है दिन आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा और दिन में यदि कोई ऐसी बाधा की स्थिति होती है तो रात निकल जाए ऐसा नहीं लगता है हम्म, तब केवल लगता है दिन निकल जाए <clears throat> दिन भी निकल जाए ऐसा नहीं लगता है उसमें उसमें वो कष्ट जो साक्षात है ना बाधा वो बाधा किसी तरह से निकल जाए ये लगता है रात्रि में तो रात्रि निकल जाए ऐसा लगता है लेकिन दिन में साक्षात बाधा निकल जाए ऐसा लगता है दो अंतर होते हैं बाधा समान ही बाधा है ये दोनों रात में भी बाधा ही है दिन में भी बाधा है लेकिन रात की बाधा में बाधा मुख्य नहीं होता है रात में समय होता है मुख्य हो जाता है किसी तरह ये निकले पर दिन में ऐसा क्यों नहीं होता है दिन में समय के लिए नहीं करते हैं कि समय निकल जाए रात में तो रहते हैं ये देखने की ये बात है कि रात्रि के कष्ट में समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह से रात कटे लेकिन दिन की बाधा में समय की प्रार्थना नहीं करते हैं दिन कट जाए ऐसा नहीं करते हैं अपितु खा विशेष यानी वो बाधा जो साक्षात है बाधा हट जाए ये प्रार्थना करते हैं दोनों में अंतर है ना समय में तो अब इसका मतलब कारण क्या है तो कारण यही है कि रात्रि काल में जो उपाय हम कर सकते हैं ना वो उपाय ही रहता है बाधित कैसे करेंगे क्या करेंगे ये रहता ही नहीं है साथ में हाथ में नहीं होता है वो इस कारण से बाहर ध्यान नहीं जा पाता है वहां कष्टों तक कारण वहां भी कष्ट ही है समय की प्रार्थना नहीं है वहां पर भी जैसे दिन में उसकी प्रार्थना नहीं है ना समय की साक्षात कष्ट की प्रार्थना है ऐसे रात में भी साक्षात कष्ट की ही प्रार्थना होती है समय की वहां भी रात्रि निकलने की नहीं होती है लेकिन चूंकि कर नहीं सकते कुछ उस समय रात के कारण हम्म, करना कुछ नहीं हो पाता है अंधेरा भी रहता है और कोई किसी से मिलना जुलना या सभी अपना अपना कटे हुए रहते हैं तो कटे हुए होने से साधन नहीं दिखते हैं जुटाने के लिए तो उस अवस्था में अब केवल समय ही बचता है सामने तो समय होने के कारण अब क्या हुआ एकदम निकटतम बाधक है वो दिन में जो बाधा रहती है वो बाधा गौण हो जाती है उसके साधन प्रमुख हो जाने से वो दृष्टि में आ जाता है तो हमको कुछ करने का मतलब ना अवकाश मिल जाता है सोचने का कष्ट से सोरे थोड़े दूर चले जाते हैं इसलिए दिन में उतनी बाधा परेशानी नहीं होती है लेकिन रात्रि में अब किसी में मन नहीं लगा पाते हैं साधनों में विवश हो जाते हैं एकदम से तो सामने समय ही दिखने लग जाता है इसलिए रात्रि वाला कष्ट जो होता है अधिक हो जाता है उतने ही कष्ट जितनी रात में हो उतने ही दिन में हो तो उतना भारी नहीं लगेगा वो कष्ट दिन में उतना ही रात को भारी लगता है हाँ रात को वही अधिक हो जाता है होता नहीं है अधिक लेकिन उसमें क्या है ना जब विवश हो जाते हैं चारों तरफ से तो पूरा का पूरा ध्यान उसी पर चला जाता है उसी को बार बार सोचने लग जाते हैं इसलिए और अधिक बौखलाहट हो जाती है क्षुब्ध हो जाता है इसलिए थोड़ा भी कष्ट रात का हो तो बहुत अधिक लग जाता है दिन में हो तो उसे ऐसे हटा देते हैं वस्तुतः यहाँ पर क्या होता है ना वो हम्म, विषयांतर हो जाते हैं रात को विषयांतर नहीं हो पाते हैं तो इस कारण से क्या होता है कि अब कोई चारा तो रहता नहीं है तो रात के लिए हम यही सोचते हैं किसी तरह से कम समय तो कटेगी ताकि फिर सुबह होते ही फिर दूसरों से करेंगे उपाय करेंगे तो इस कारण से रात में हम रात की प्रार्थना करने लग जाते हैं और दिन में हम दिन की प्रार्थना नहीं करते हैं लेकिन जब सुख की बात आएगी तो सुख के दिन आए सुख की रात्रि आए ऐसी प्रार्थना नहीं करते फिर हम्म, सुख के दिन आए हम्म, सुख के दिन देखे ऐसी भावना होती है फिर प्राप्ति की अगर बात आएगी तो दिन आएगा सामने एक दिन की छुट्टी दे दो एक रात की छुट्टी नहीं मांगते है ना छुट्टी यदि लेनी हो काम से तो का किसकी मांगेंगे छुट्टी नहीं सुख की जब बात भी आएगी ना मुख्य रूप से तो उसमें यही होगा कि दिन का मुझे एक दिन मुझे दे दो की अगर आएगी तो रात से रात भयंकर होती है लेकिन सुख के यानी सुख का संबंध दिन से जुड़ता है और दुख का अधिक संबंध रात से जुड़ता है तो इस कारण से इसमें जो प्रार्थना की गई ना कल्याण की की गई सुख की इसलिए कहा दिन हमारे लिए सुखकारी होवे और दूसरी बात है दिन में रात अपने आप गिनती में आ जाएगी यानी पूरा दिन पूरा दिन में रात आ जाता है पूरे रात में दिन नहीं आता है गिनती जब करते हैं ना तो दिन में रात तो आ जाता है गिनने में लेकिन रात में दिन को नहीं गिना जाता है फिर से अब क्या हुआ ना पूरा मांग रहा है ये हाँ निशम का मतलब है यहाँ दिन वाला भाग नहीं केवल दिन वाला भाग नहीं हो और फिर रात्रि के लिए भी वैसे पढ़ दिया है अहानिशम भवंतु न शम रात्रि प्रतिधीयताम तो यहां पर वस्तुतः समय की प्रार्थना नहीं है हम्म। रूप से है कि हमारे दिन के यानी कि दिन हमारे लिए कल्याणकारी हो यहाँ है कि हम जो पुरुषार्थ करते हैं दिन में उद्योग करते हैं प्रयत्न जो करते हैं वो हमारा प्रयत्न का काल सुखकारी होवे और रात्रि का मतलब है भोग का काल साधनों से जो हमको सुख मिलना है वो हमारे लिए सुखकारी होवे तात्पर्य ये होगा कि एक तो हम शांति पूर्वक किसी भी वस्तु का उपार्जन करें संग्रह करें संग्रह भी हमारे धर्म पूर्वक होने चाहिए और फिर उस संग्रह का उपभोग ये भी हमको निर्बाध होना चाहिए साधन पैसे रुपये पैसे धन जो भी है कमाएं उसको उपार्जित करें एक तो ये निर्बाध रूप से हम उपार्जित कर लें उसको इसके लिए मारा मारी इतनी नहीं करनी पड़े और फिर जब हमारे पास हो जाए तो अब भोगने में भी बाधा नहीं आए उसको सुख से हम उसका उपभोग कर सके तो ऐसे ही यहाँ पर ये कहा गया कि हानि संभवंतु ना यानी मेरे जो दिन होवे कल्याणकारी होवे तो अब ये दिन कल्याणकारी कैसे होंगे तो इसके लिए है कि दिन कल्याणकारी तब होंगे जब हम कोई भी काम विधि पूर्वक करेंगे यानी जो अविहित कार्य है उसको करने में कठिनाई होती है यानी चोरी करना है दिन में रात में इसीलिए करते हैं ना दिन में नहीं करते चोरी रात में चोरी करना सरल होता है लेकिन धंधा करना रात में कठिन होता है वो दिन में सरल होता है तो इसलिए सरल होता है कि जो धंधा होता है वो वेत है वेत हम्म, होने से उसको दिन में ही करना चाहते हैं कार्यालय रात में नहीं चलाते हैं दिन में चलाते हैं रात में करते भी तो आधा सुधा काम होता है पूरा नहीं होता है काम भले ही कार्य खुला तो रहता है रात को भी कार्यालय खोलते हैं लेकिन काम उतना नहीं होता है पूरे पूरे काम नहीं होते हैं दिन में ही होते हैं पूरे काम तो इस कारण से यही है कि अगर हम दिन को कल्याणकारी कहना चाह रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं इसका मतलब होता है जो हमारे व्यवहार हैं विहित वो धर्माचरण युक्त होवे कोई भी जो हम काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हमारा निर्वाध होवे पुरुषार्थ उसमें बाधा नहीं आए तो कार्यों के करने में पुरुषार्थ करने में बाधा कब नहीं आएगी जबकि वो साधन ठीक हो हम्म, जिन साधनों से कार्य हो रहा है वो साधन यदि ठीक होंगे तो कार्य ठीक होगा ही होगा फिर क्योंकि काम करने में बाधा और किस चीज की आती है साधनों की आती है भाई अपने शरीर में बाधा आएगी यात्रा कर रहे हैं तो गाड़ी में बाधा आएगी और किस में आएगी बाधा खेती कर रहे हैं तो हल में बैल में ट्रैक्टर में बाधा आएगी मजदूर में बाधा आएगी काम करते समय हर समय जो बाधा आती है वो साधनों में आती है साधन यदि बाधित हो जाते हैं तो फिर काम नहीं होता है <clears throat> तो यहां भी यही होगा कि अगर हम ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि आहानी दिन हमारे लिए कल्याणकारी होवे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो पुरुषार्थ के काल हैं वो पूरे पूरे साधन युक्त होवे साधनों की कमी में यदि हम कार्य आरंभ करेंगे तो भाग दौड़ रहेगी और साधन को पूरा जुटा करके यदि हम कार्य आरंभ करते हैं तो दिन अच्छा होगा दिन यहाँ पुरुषार्थ का प्रतीक है समय जो है भोग का नहीं है भोग की का प्रतीक रात्रि है तो यहां जिस समय हम साधनों का उपार्जन कर रहे हैं वो काल दिन होगा तो दिन हमारे लिए कल्याणकारी होने का होने का मतलब ये हो जाएगा कि हम जो भी पुरुषार्थ जिस क्षेत्र में भी करने चले जा रहे हैं उस क्षेत्र में हमारे साधन पूरे पूरे होने चाहिए कर्तिक कर्म साधन वैगुण्यात है ना कर्ता में कर्म में और कारण में दोष यदि होते हैं तो सफलता नहीं होती है कार्य की हम्म, कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए तीन साधन है मुख्य कर्ता कर्म और साधन कर्ता का तो मतलब होगा करने वाला जो है सीधा सीधा कर्म का मतलब होता है विधि वो कैसे कार्य किए जाए किस प्रकार से होता है कार्य वो विधि भी आनी चाहिए विधि नहीं आएगी तो कुछ नहीं कंप्यूटर रखा है चलाना नहीं आता है तो उसमें पता नहीं कितनी सात चीजें हैं कुछ नहीं दिखेगा सत्री कर्म साधन वैगुण्यात न्याय दर्शन का सूत्र है ये कर्ता कर्म और साधन में यदि समन्वय नहीं हो रहा हो दोष युक्त है ये तो कर्म का फल नहीं मिलेगा मतलब सिद्धि नहीं होती है फल प्राप्ति नहीं होती है कर्म सिद्ध नहीं होता और ये तीनों ठीक ठीक यदि है तो ऐसा होगा ही नहीं कि कर्म फल नहीं होगा फल मिलेगा मिलेगा सिद्धि उसकी होती होती है ये नियम सभी क्षेत्रों में लग जाएगा अपने अपने उस स्थिति से पढ़ाई के क्षेत्र में भी अब तीन कौन कौन से होंगे वो निर्धारित कर लेंगे हम्म, पढ़ने वाला हो जाएगा पढ़ने की विधि अब होगी कैसे किसी चीज को पढ़ना चाहिए कैसे किसी चीज को याद करना चाहिए सूत्र को याद कर रहे हैं तो कितने बार उसको रटना है बीस सूत्र याद करने हो तो एक साथ बीस सूत्र पढ़ लेंगे याद नहीं होगा हाँ। तो पढ़ने की तो विधि यही होता है अलग अलग जैसे विषय है ना सभी के कुछ विषय तो सैद्धांतिक रूप में पढ़ने के लिए होते हैं जो दर्शन आदि होता है हम्म। दूसरे होते हैं व्याकरण आदि ये पहले रटने के होते हैं इसमें दोनों चीजें होती है एक भाग रटने का होता है दूसरा भाग समझने का होता है तो रटने की प्रक्रिया तो अलग होती है समझने की प्रक्रिया अलग होती है इसी कारण से किसी की बुद्धि रटने में तो चलती है पर उसको समझने में नहीं चलती है और किसी की बुद्धि समझने में चलती है रटने में नहीं चलती है तो ऐसा होता है कि जिसको अष्टदेही पूरी याद नहीं होती प्रथमा वृत्ति उसको बहुत अच्छी तरह से आ जाती है और किसी को प्रथमा वृत्ति आती है अष्टदेही कब भी याद नहीं होती है उसको तो एक ही व्यक्ति की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है नहीं दो विधियां अलग अलग है वो स्थिति ऐसे दर्शनों में भी होगा कि हर किसी विषयों में होता है एक समझने वाला भाग होता है एक उपस्थित करने वाला होता है बुद्धि में बैठाने वाला भाग होता है दोनों अलग अलग होते हैं तो जहां तक बुद्धि में बैठाने की चीज होती है वो तो आवृत्ति से केवल आती है आवृत्ति करना उसका एक बार करेंगे दो बार करेंगे फिर देख रुक जाएंगे फिर आया कि नहीं आया हम्म। यानी जैसे कि अब योगा था योगानुशासनम ये एक बार बोल दिया उसके बाद चुप होकर के अंदर फिर देखना होता है आ गया कि नहीं आया अगर अपने आप वो उच्चारण होने से लग जाए तो समझिए आ गया और उच्चारण करने में प्रयत्न दिख रहा हो तो समझिए अभी याद नहीं हुआ हमने हाँ, जितनी बार लक्षण उसका वही होगा बोलने के बाद चुप हो जाते हैं देखिए अंदर मैं चुपचाप खड़ा होके वो अपने आप उच्चारण हो रहा है कि नहीं फिर यदि अपने आप उच्चारण हो जाता है तो वो हो गया उपस्थित और उच्चारण नहीं हो पाता है तो नहीं आया है वो यानी बोल करके फिर दोबारा बोलना पड़ रहा हो ना तो समझिए अभी नहीं आया हो और अगर बोल नहीं रहे हैं आप ऊपर से भीतर से वो बोलना जैसे अपने आप होने लग जाएगा हम्म, तो वो समझिए कि अब ये आ गया तो पांच सूत्र आपने एक बार बोल दिया पांच सूत्र बोलने के बाद फिर रुक जाइए रुकने के बाद अब प्रतीक्षा करो कि बोला जा रहा है कि नहीं भीतर से हाँ, तो अगर बोला जा रहा है तो समझिए अब याद हो गया वो ऐसे पहले पांच सूत्र कर लीजिए फिर दस दस करना हो तो पांच कर लेंगे फिर पांच करने के बाद अब पांच छठे से फिर दस तक करेंगे दोबारे में पांच को छोड़ करके लगातार नहीं फिर पाँच छः से दस कर लेंगे दस करने के बाद फिर अब शुरू से दस तक फिर करेंगे एक बार फिर अब दस को छोड़ देंगे फिर ग्यारह में से पंद्रह तक का करेंगे ग्यारह से पंद्रह फिर हो जाता है तो फिर अब एक से फिर पंद्रह करेंगे ऐसे पांच पांच का तीन तीन का जैसे भी होता है एक वो बनाते जाएंगे उसका ग्रुप हाँ उस ग्रुप से याद करेंगे तो फिर ये याद हो जाएगा पूरा पूरा करेंगे एक साथ तो नहीं होगा एक एक भी करेंगे तो भी नहीं होगा अगले में जाके भूल जाएंगे फिर हाँ तो इस कारण से उसको श्रेणी वर्ग बना बना करके जितना ले सकते हैं वो अपनी अपनी सामर्थ्य पर होते हैं कि एक बार में कितना याद हो जाता है आपको कभी होगा एक ही सूत्र याद होता है कभी दो किसी को होगा किसी को पांच सूत्र एक बार में होता है एक बार करते करते मन थकता नहीं है उसका मतलब एक बार का मतलब है लगातार करते करते वो अपने आप घुसता जाएगा यहाँ तक मैंने कर लिया फिर अंत में जाकर के रुक जाता है अपने आप को वो भीतर देखना होता है तो उतना समझिए आपका वर्ग बनाने का सामर्थ्य है उस समर्थ के अनुसार आगे बढ़ाते जाएंगे तो वो उपस्थित होता जाएगा ये तो रटने की स्थिति प्रक्रिया है दूसरा समझने वाला जो भाग होता है समझने वाले भाग में शब्द को बंद कर देते हैं पढ़ करके हम्म, और उसके बाद अर्थ क्या है वहां दृष्टि डालना होता है मतलब हाँ मन से ही शब्द बंद हो जाएगा अर्थ क्या है उस अर्थ को सामने लाते हैं पढ़ लिया इसके अंदर आहानी शम बबंतु न अब ये इसके बाद छोड़ दिया इसको अब अब देखिए आहानी से क्या अर्थ लिया जाता है बाहर आ जाएंगे एकदम यानी जैसे ये दिन की स्थिति है अब यहां पर आ जाएंगे यहां आप विचार करेंगे देखेंगे कि ये स्थिति जो है हमारे लिए वातावरण ये है दिन का मतलब अब इतना लेंगे हम हमारे लिए यही दिन है इतने भाग का नाम दिन है तो अब ये कल्याणकारी कैसे हो जाएगा तो अब यहां फिर विचार करेंगे कि ये अकल्याणकारी कब होता है यानी अब जो हम करना चाहेंगे वो बाधित जब होगा तब वो आगे नहीं बढ़ेगा आगे बढ़ने के लिए दो स्थितियां होती एक तो अपनी मूल शक्ति चाहिए आगे बढ़ने जहां से हम आरंभ करते हैं दूसरा होता है उसको रोकने वाली जो शक्ति आती है वो भी स्वाभाविक है एक बढ़ने वाला होता है एक रोकने वाला क्योंकि दोनों सभी को बढ़ने होते हैं आगे और सभी के लिए अवकाश नहीं होता है तो वो स्वाभाविक रूप में टक्कर होता ही हो संघर्ष होगा ही होगा तो अब होता है कि उस संघर्ष को रोकने की अतिरिक्त शक्ति चाहिए पढ़ने के लिए जितनी चाहिए रोकने के लिए भी चाहिए जैसे कोई गाड़ी चलने ट्रक चल रहा है या बस है या कुछ भी है तो एक तो सामान्य सड़क पर वो चल रहा है हम्म, लेकिन बीच बीच में कहीं इतने ऊंचे ठोकर आते हैं ना तो एक तो होता है कि सामान भर के चलने पर उसको हम्म, सीधी सीधी अगर रोड मिल जाए तो ठीक ठीक चल लेता है लेकिन कहीं पहिया उतर जाता है तो उसको कठिनाई हो जाती है ना तो उस समय लेकिन जो बलवान ट्रक होता है इंजन जिसका वो वहां भी खींच लेता है वो तो उसमें इसीलिए नियम होता है कि कम से कम इतना ही इसमें लादना है जितना लादने का नियम होता है ना उससे अतिरिक्त वो खींचता है अधिक क्षमता उसमें रखी होती है पर कभी भी उतनी पूरी क्षमता तक लादने का नियम नहीं होता उसमें वो इसीलिए होता है सुरक्षित रखा जाता है कि आगे जाके ठोकर भी आएगा रास्ता भी टूटा फूटा होगा कुछ भी होगा तो वहां वो शक्ति फिर खींचेगी इसको अतिरिक्त शक्ति होगी ला दिया तो वहां बैठ जाएगा जाकर के वो तो एक तो होगा ऐसे बाधक यहां भी आते हैं दोनों स्थितियों में आएगा अब यहाँ बोल दिया कि कल्याणकारी हो भी हमारे लिए दिन तो अब होगा कि अकल्याणकारी के बाधक तत्व मतलब कौन कौन है यहाँ अब पुस्तक में जितना लिखा है ना ये भाग वो भाग नहीं होगा ये अर्थ के साथ जब देखने लगेंगे यहां दृष्टि डालेंगे तो यहां पर आएगा ये अभी इन दोनों का फिर समन्वय करते हैं यहां अगर कोई बाधा नहीं दिख रही है तो समझिए कि अब ठीक है कल्याणकारी अमर जैसे कि उदाहरण के लिए आज पूरे दिन को रात तक देख लीजिए अब नौ बजे तक का आप क्या क्या काम करना चाह रहे हैं उस काम में अब क्या क्या बाधा आने वाली है अगर आप उसका निराकरण अभी कर लेते हैं तो पूरे काम ठीक ठाक हो जाएंगे लेकिन अगर नहीं सोचा दूसरे भाग को आपने तो क्या होगा उसमें फिर कहेंगे वो तो सोचा ही नहीं था और वो काम रुक जाएगा तो अगर उस बाधा का निराकरण हो गया तो दिन निकल जाएंगे ठीक उस फिर परेशानी नहीं होगी वो कार्य ठीक हो जाएगा लेकिन वो बाधा पता ही नहीं चला है या पता चलने के बाद भी निराकरण नहीं सूझा है तो अब क्या होगा ये दिन कल्याणकारी नहीं होंगे तो अर्थ शब्द में तो इतना ही लिखा गया है कि दिन हमारे लिए कल्याणकारी हो गए लेकिन वो शब्द बोल दिया अर्थ के लिए संकेत करता है अर्थ में शब्द तो इस कारण समझने के लिए अर्थ में अर्थ में आ जाते हैं अर्थ के मतलब तीन हैं द्रव्य गुण और कर्म हम्म। कोई भी जो अर्थ शब्द का अर्थ जब भी बोलते हैं तो ये तीन में से कुछ न कुछ होगा एक द्रव्य वस्तु होगी सीधी और गुण होगा मतलब वो जैसा उसका स्वरूप है वो उसका गुण होगा फिर उसकी क्रिया होगी ये ये तीन ही हर समय दिखने चाहिए तो आहानी जैसे शब्द बोल दिया वह आहानी का देखिए ये तीन में से कोई एक अर्थ है अब ये शब्द किसको बता रहा है कहाँ संकेत जाएगा इसका कहानी शब्द से क्या लंबी चौड़ी वस्तु कैसी क्या चीज दिख रही है ऐसे किसी का संकेत यहाँ लागू नहीं होगा हाँ, तो यहाँ केवल इतना ही हुआ कि काम करने की जो अवस्था विशेष है वही इसका अर्थ होगा और कुछ नहीं कोई एक साक्षात वस्तु नहीं है कर्म इसका अर्थ नहीं है नई द्रव्य अवस्था है ये गुण का मतलब होता है कोई जैसे शम बोल दिया ना वो शम ये तो गुण है कल्याणकारी एक स्थिति यानी जहां केवल टिकी हुई कोई वस्तु दिखती हो स्थिर अब उसमें इधर उधर कुछ नहीं होना है वो उसका गुण है वो गुण भाग कहलाता है वो स्थिर होगा उसमें अब कोई सुधार नहीं बढ़ वृद्धि ह्रास कुछ नहीं होना है ऐसा जो अंश दिखाई दे वो गुण होता है हम्म। और कोई संघात यानी आधार रूप अगर दिखता हो हम्म, तो आधार जैसी अवस्था दिखती हो तो वो द्रव्य होगा हर समय और संयोग विभाग से निमित्त अगर कुछ दिखता हो तो वो क्रिया होगी तो शब्दों को लेने के बाद फिर हम इन तीनों स्वरूपों से फिर मिलाते हैं उसको हम्म, तो अब या दूसरा एक उपाय है कि सीधे अपने आचरण से जोड़ दो उसको प्रयोजन से प्रयोजन से आचरण से शब्द पंक्ति को सीधे मिला देते हैं हम्म, तो अब उससे आपको दूरी दिख जाएगी कि कितना दूर हमसे ये अर्थ है <clears throat> इसके आधार पर अब फिर चिंतन करेंगे या विचार करेंगे विचार करने के बाद अब वो अर्थ पकड़ में आ जाएगा वो पूरा अर्थ निकल जाएगा फिर उसका तो सभी पंक्तियों के जितने भी पंक्ति लिखी होती है पुस्तकों में सभी को हम पहले अपने जीव अपने से जोड़ते हैं अपने आचरण से व्यवहार से अपनी क्रिया से जोड़ते हैं फिर अपने प्रयोजन से जोड़ते हैं उसके बाद फिर अब बाहर जहां पर उसका व्यवहार होना है उसकी सिद्धि होनी है प्रयोग जहां होना है वहां पर ले जाते हैं उस पंक्ति को तो वहां संगति लगने के बाद अब क्या होगा ये दोनों चीजें दिख गई तो समझिए आपको अर्थ हो गया स्पष्ट इसी को स्पष्टता बोलते हैं हम्म। यानी समझ में आ गई बात अब वो आचरण करेंगे तो फिर यद्यपि आचरण में दूसरे भाग नए नए भी आएंगे जैसे बाधक क्या है बाधक का क्या स्वरूप होगा कैसे होगा वो और अलग चीजें होगी लेकिन प्रवृत्ति हो जाएगी हम्म, बुद्धि में एक जो होता है निश्चयात्मक स्थिति वो निश्चयात्मक स्थिति बन जाएगी अहानिशम भवन तो इतना बोल देने के बाद आपने पूर्वा पर देख लिया तो आपको लग जाएगा अंदर की हाँ ठीक है ये बात ऐसे में एक दूसरी बुद्धि बनती है निर्णयात्मक बुद्धि बनती है शब्दों को पढ़ने के बाद वो निर्णयात्मक बुद्धि जब सामने आ जाए तो उसका मतलब होता है कि हमने समझ लिया इसको ये बस बोल देते हैं ना हाँ समझ में आ गया ऐसा कभी बोल देते हैं और कभी लगता है कि नहीं आया है अभी कुछ उथल पुथल अंदर होती रहती है वो बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती उस विषय में तो उसका मतलब होता है कि मुझे नहीं आया है समझ में या फिर पंक्ति देखते हुए ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं पता चल रहा है वो कुछ नहीं पता चलने का मतलब होता है कि कुछ जोड़ नहीं पा रहे हम दोनों को ये जो जिसलिए कह रहा है ना वो हमारे बुद्धि में व्यवधान बना हुआ है वो व्यवधान यही है कि वो स्थिति कहाँ पर है वो साधन कौन है द्रव्य गुण वो कौन है उसके साथ हम संबंध नहीं बना पा रहे हैं तो उस स्थिति में लगेगा कि कुछ नहीं पकड़ में आ रहा है और संबंध यदि बन रहा है तो पकड़ में आ रहा है ऐसा लगेगा तो ये अंदर से जो बिना संशय रहित यानी संशय रहित स्थितियां जो दिखनी होती है और ठीक है ऐसा जो लगना एक निर्णयात्मक स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका अर्थ होता है कि हाँ ये समझ में आ रहा है मुझे एक एक पंक्ति पर एक एक शब्द पर प्रकरण पर सभी पर यह नियम लागू हो जाएगा हम्म, ऐसा लगता हो तो समझे कि अर्थ मुझे आ रहा है और नहीं लग रहा हो तो अर्थ नहीं आ रहा है तो इसी ये समझने की प्रक्रिया होती है वो रटने वाली प्रक्रिया होती है तो मंत्रों पर भी या सभी जगह यही लगा करके आप देखेंगे ऐसे पढ़ेंगे आपको तो फिर याद होगा दूसरा होता अब उसकी विधि ये तो सिद्धांत हो गया कि इस तरह से ऐसे करने चाहिए अब करते समय क्या करेंगे उसको पढ़ लेंगे पढ़ने के बाद फिर क्या करते हैं छोड़ देते हैं छोड़ के अब विचारते हैं उसको विचारने के बाद पूरा पूरा मैंने इसीलिए जो कहा है ना प्रवचन आगम काल फिर स्वाध्याय काल स्वाध्याय काल में केवल पढ़ना नहीं होता है हम्म, पढ़ने के लिए बंद करके फिर से अलग से विचारना होता है उसको में समय लगेगा फिर आप फटाफट भागते जाएंगे ये वाला भाग नहीं होगा फिर समझना भी चाहते हैं ना उस विषय को तो ये नहीं होगा कि एक एक दिन में एक पूरा पूरा प्रकरण हमको आ जाएगा ऐसा नहीं होगा हम्म। तो इसके लिए फिर क्या होता है लंबा समय लगता है पूरा स्पष्ट करने के लिए आप विचारते रहेंगे विचारते हो सकता है कई कई ऐसी पंक्तियां होती आपको वर्षों लगेंगे दस दस साल में जाकर के एक एक पंक्ति होती है समझ में आती है उसके बाद आपको लगेगा कि आज मुझे ये अर्थ समझ में आया हम्म, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं उसको ये विचार नहीं ये है बुद्धि में ऐसा एक उसमें रख देते हैं जाके यानी आज ही मुझे आ जाए समझ में ऐसी अपेक्षा रखेंगे तो दूसरे विषय फिर नहीं पकड़ में आएंगे अब हम्म, फिर क्षुब्ध होते रहेंगे और कुछ काम करने लायक नहीं रहेंगे फिर तो उसमें होता है कि जितना समय हमारे पास है उतने काल तक तो प्रयोग करते रहेंगे उसको समझते रहेंगे उसको सोचते रहेंगे विचारते रहेंगे बाकी दूसरा समय आते ही उसको बंद कर देते हैं बुद्धि में ही अंदर ही उसको कि ठीक है चलो आप आगे से विचारेंगे जैसे कई काम भी तो करते हैं ना भोजन भी करना होता है स्नान भी करना होता है अध्ययन भी करना तो इसके लिए अगला आते ही कर देते हैं पिछले को बंद ठीक है वो बाद में कर लेंगे तो ऐसे इसमें भी सब विषयों के लिए भी करना होता है कि आज नहीं आया पूरा अभी है तो यहाँ तक तो आ गया है ये फिर इसके आगे विचार लेंगे तो इस प्रक्रिया से फिर सभी चीज़ों को विचारते जाते हैं विचारते विचारते अंत में वो आ जाएगा तो एक ही दिन में सारा विचार भी नहीं होता है एक ही दिन में सारा निर्णय नहीं होता है लेकिन प्रक्रिया यही रहती है इसी ढंग से इसको चलते रहते हैं मंत्र आदि की जो व्याख्या है या कैसे इसको करते हैं विस्तार इसके लिए होता है कि पहले चीज तो है शब्दार्थ होना चाहिए इसका शब्दों का क्या अर्थ होता है ये ले लेते हैं उसके बाद पूरे वाक्यों का एक अर्थ लेते हैं वाक्य पूरा क्या कह रहा है फिर इसके बाद अब लेते हैं कि भाव इसका क्या है भाव का मतलब होता है वही व्यवहारिक स्थिति क्या है इसकी फिर उसके वो साधन यानी जो जिसके ऊपर ये कही कही जा रही है बात वो क्या चीज है तो इतना लेने के बाद यह भी यही होता है कि उदाहरण फिर ढूंढने पड़ते हैं एक उदाहरण प्रति उदाहरण उदाहरण हर समय अनुभूत वस्तु होती है हम्म, कभी भी आपने अनुभूति की उस चीज की अवस्था की वहां लाते हैं इसको उसके आधार पर फिर व्याख्या आगे बढ़ती है या समझ में आती है वो बात तो का भी हो सकता है व्यक्तिगत हो सकता है सामाजिक हो सकता है राष्ट्रीय कई पुस्तक का हो सकता है लेकिन अपनी बुद्धि से जुड़ा हुआ विषय होना चाहिए उदाहरण में आएगा तो जब तक आपके जो अं, उदाहरण वो करने व्याख्या पद उसके साथ आपका उदाहरण नहीं जब तक जुड़ रहा है तो समझिए अभी आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं समझा नहीं है अपना नया उदाहरण जोड़ देते हैं तो समझिए आपने समझ लिया उसको नहीं जोड़ पा रहे हैं तो उदाहरण नहीं बनेगा हाँ नहीं समझ पाए क्योंकि दोनों बुद्धि व्यापक नहीं हुई है इसका मतलब है और बुद्धि व्यापक होती है तो उदाहरण बहुत सारे होते हैं वो कहीं न कहीं जुड़ ही जाता है वो तो विशेष समझ में आ गया इसके लिए ये भी होता है कि उदाहरण कोई न कोई पकड़ में आ जाएगा आपको बहुत सारे अनुभव अपने अंदर होते हैं पहले से लेकिन उसकी संगति नहीं लगा पाते हैं जब तक तो वो जुड़ते नहीं हैं तो उदाहरण के जैसे ही जोड़ेगा अपने आप वो हल्का हो जाएगा सारा और वही उसका लक्षण होता है अब ये हमने समझ लिया तो है हाँ वही बताओ ना यानी प्रक्रिया इतनी रहती है देखना यही होता है लेकिन होगा कई दिनों के बाद वो बताया मैंने वो करते रहेंगे करते रहेंगे चीज यही आएगी अंत में जा करके साधन इसके इतने ही होते हैं इसी में थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा विस्तार होते जाता है प्रक्रिया यही रहती है चलते हैं यानी एक ही शब्द नहीं रहेगा फिर वही बताया ना पहले शब्दार्थ इसी का करेंगे हाँ, फिर भावार्थ करेंगे इसका फिर उदाहरण लाएंगे इसका फिर वे प्रयोग करेंगे इसका ऐसे करके इनमें चीजें जुड़ते जाओ घंटा हो जाएगा इसमें तो इस विषय में कौन क्या बोले थे वो बोले हाँ वो फिर अपना और दूसरे का सुनाते चले जाओ वो बढ़ता चला जाएगा इसको घंटों भी बढ़ा पूरे दिन भी बढ़ा लो इसको पर उसमें यही होता है कि ये चीज तो यहीं रहती बाकी दूसरी शास्त्र चीजें आ जाती है एक कथा ले लिया मान ले इसके ऊपर आपने दिन के ऊपर तो वो जितने ही बढ़ा दो उसको तो वो अलग अलग स्तर के अनुसार भी होता है मतलब समय ही काटना आपको तो वही बताया ना कि भाव ले लो भाव से संबंधित कथा याद कर लो तो वो कथा सुनाते रहो उस कथा की कथा बना दो जो तो तो वो सारा समय निकल जाएगा उसका लेकिन एक तो ऐसा चलता सबका नहीं है व्याख्यान करने वाले का भी एक स्तर होता है वो उससे ज्यादा नहीं कर सकता है उसकी उतने विषयों को उसकी बुद्धि पकड़ती नहीं है मतलब उसको उपेक्षा करती है तो भारी लगता है उसको वो कथावता नहीं करना चाहिए जो अभी चिंतन की स्थिति में चल रहा है ना या अर्थ की स्थिति में चल रहा है वो बाहरी सब कथा उथा को नहीं लाता है उसको बहुत भारी लगता है ये कथा करना भी लेकिन जिसको अर्थों से अभी नहीं लेना है या बुद्धि जिसकी अभी बिल्कुल वो है संकुचित है वो कथाएं याद होते ही शुरू कर देगा वो तो यही नियम वक्ता पर भी होता है यही श्रोता पर भी होता है श्रोता को भी यदि व्यवहार से कुछ नहीं लेना देना है तो वो कथा सुनेगी अभी उसको यदि व्यवहार में आचरण में उतारना है तो वो कथा नहीं सुनती है फिर अच्छा उसको अच्छा नहीं लगेगा कहानी उसको लगेगा फालतू समय क्यों जा रहा है मूल चीज बताओ ना तो दोनों के स्तर पर ये निर्भर होते हैं वक्ता भी होता है सभी इसलिए सभी सभी तरह के नहीं बोल पाते हैं उनका अपना स्तर होता है उस स्तर के अनुसार ही वो रखते हैं बात को भजनी भजनी की तरह से ही रखेंगे अपनी बात को विद्वान विद्वान की तरह से अपनी बात को रखते हैं दोनों के अलग अलग ढंग होते हैं ना श्रोताओं में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग श्रोता व्याख्यान सुनने वाले को ही सुनने जाते हैं कुछ ऐसे होते हैं वो भजन सुनने के लिए जाते हैं वहां पर तो अपना अपना ये स्तर होता है सभी चीज़ें सभी जगह नहीं चलेगी होती तो सारी चीज़ें एक ही से संबंध जुड़ी हुई है सब लेकिन सभी सभी जगह चलती नहीं है वो आपको अपना स्तर के अनुसार प्रस्तुति करना होगा बताया ना वो प्रेरक होते हुए भी जो प्रस्तुता है अगर उसको सीधा अर्थ भाग लेना है तो वो नहीं जाता है इसमें दृष्टांतों की लंबाई चौड़ाई में नहीं जाता है वो सीधा उसको लेकर के जाता है जैसे आप कभी सामान खरीदने जाते हैं ना दुकान में तो आपको बहुत समय होता है तो एक निकलवाते हैं दो निकलवाते हैं तीन निकलवाते हैं वही उलट पुलट करते रहते हैं और आपको जल्दी होती तो क्या करते हैं आप एक ही चीज लेते हैं बिल्कुल ठीक से उसी से मैं देख लिया और अपना लेके चल दिया तो ऐसे जो व्यवहार में नियम होता है बुद्धि में भी वही होता है एक ढंग से ही चलता है ये में इसको करना चाहिए <clears throat> तो यहाँ पर ये जो कहा गया आहानिशम यानी दिन हमारे तो दिन का मतलब हुआ हमारे जितने भी साधन हैं साधन के साधन और साधन के जो उपयोग व्यवहार होना है वो समय प्राप्ति काल हमारे लिए कल्याणकारी होवे और रात्रि का मतलब भोग काल उसका जो उपयोग काल है वो हमारे लिए कल्याणकारी होवे यानी धर्माचरण विधि पूर्वक अगर हम वस्तुओं का आदान ग्रहण करते हैं और उपयोग करते हैं तो ये हमारा दिन और रात पूरा सुखकारक हो गया अग्नि अब इसमें है सूर्य और अग्नि ये दोनों हमारे लिए कैसे सुकारी होंगे तो सूर्य अपने आप में तो ठीक ही रहता है ये तो बिगड़ने वाला नहीं है हम्म। तो अब इसमें क्या होगा हमारा संतुलन चाहिए हम्म, अपना यदि बात पित कब ठीक है तो सारी रीति अनुकूल होगी और अपना ये तीनों गड़बड़ है तो अब वो उस ऋतु के आते ही अपना वो हो जाएगी वो उस तरह की दुर्दशा हो जाएगी तो उसमें लगेगा तो अब सूरज चांद ही हमारे लिए कारण हो रहे हैं तो उसके लिए अब होगा कि उनको ठीक नहीं करना है यहां पर ये करना होगा कि उस काल में हम अपने शरीर को उसके अनुकूल बनाए इन हमारे अनुकूल यानी हमारा शरीर इनके अनुकूल हो हमारा अब उसमें खान पान जो भी आएगा व्यायाम आसन ये सारी की सारी चीज़ें क्या होगा उसके अनुकूल हमारे होबे कथन तो यही होगा कि ये हमारे अनुकूल होबे लेकिन अर्थ वो नहीं होगा अर्थ होगा कि हम इनके अनुकूल होबे क्योंकि वो ठीक करने की वस्तु नहीं है वो तो ठीक ही है खराब नहीं होती है वो चीज़ खराब हमारा होता है साधन तो सीधा अर्थ बदल जाएगा यहाँ पर बोलेंगे कि वो ठीक हो जाए लेकिन अर्थ होगा कि हम ठीक हो जाए हम्म, तो इनके अनुकूल हम हो जाए इंद्र और सूर्य के अनुकूल शीतकाल में जितना आपने शीत सहन किया है ग्रीष्म काल में उतनी ही गर्मी सहन होगी और जितना शीत से मतलब बचे हैं उतनी ही ग्रीष्म वो धूप से फिर बचने की स्थिति आएगी शरीर की जो सहन शक्ति थी ना अगर आपने सहन किया है वो तो वो बढ़ गई है तो वही सहन शक्ति वृद्धि जो शक्ति आ गई शरीर में ये ताप से भी रक्षा करेगी और नहीं आई थी तो अब यहाँ उसको उतनी प्रभावित करेगी ये ऐसे ही खान पान आसन व्यायाम आदि सारे इसके अनुकूल शरीर को ठीक करेंगे ऋतु के अनुसार तो ये दोनों भी सूर्य और अग्नि ठीक रहेंगे फिर इसके बाद है इंद्रा वरुणा सूर्य और अग्नि अग्नि का मतलब होगा खान पान के सीधे जो साधन हैं हम्म। ये हमारे अच्छे होने चाहिए ये अनुकूल स्वास्थ्य के अनुकूल होने चाहिए और इसमें फिर आ जाएगा अग्नि में आ, मकान भवन आदि जितने भी साधन हैं ये हम्म। तो अब गर्मी ऋतु जैसे आने वाली है तो गर्मी के अनुकूल व्यवस्था करनी पड़ेगी पानी का भी होगा ये सब जितने भी होंगे शीत के साधन होंगे ये सारी चीज़ें अगर साधन हो जाते हैं तो गर्मी ठीक से निकल जाएगी कपड़े लते ठीक ठाक थे तो जाड़ा ठीक ठाक निकल गया नहीं तो मर गए ठिठुर करके हम्म, तो ऐसी गर्मी में भी आएगी भयंकर गर्मी आएगी तो उसमें भी शीत की स्थितियां रहनी चाहिए अपने पास वो हैं तो बच जाएंगे नहीं तो मारे जाएंगे हम्म, वो सारी अनुकूलता अपने को बनानी है तो इसी तरह से ये कल्याणकारी हो जाएंगे अब इसके बाद है कि इंदिरा पूछना राजा अब राजा में दोनों बिगड़े रहते हैं प्रजा भी बिगड़ सकती है और राजा भी बिगड़ा हुआ होता है तो यहाँ अर्थ होगा कि दोनों के लिए हम करेंगे पुरुषार्थ फिर अपने भी सुधार करना होगा प्रजा का भी सुधार करना होगा और राजा का भी सुधार करना होगा अब कैसे दोनों सुधर सकते हैं ये फिर विचारने की बात आएगी अब हम्म। सूर्य आदि के साथ केवल लगा था नियम अपना ही करना है हम्म। लेकिन यहां वालों में लगेगा दोनों में दोनों अर्थ हो जाएंगे इसको राजा को भी ठीक करना होता है क्योंकि जो वो भी बिगड़ते हैं प्रजा ठीक ठाक हो राजा बिगड़ गया तो भी बिगड़ जाएगा हम्म। और राजा ठीक ठाक हो लेकिन प्रजा बिगड़ी हुई तो भी बिगाड़ रहेगा अशांति रहेगी तो यहाँ दोनों ही बिगड़ने वाले होने से दोनों पर नियम लागू होगा प्रार्थना दोनों के लिए हो जाएगी तो इंद्रा सोमा सुविताए संजो और इंद्र सोम जो होते हैं उत्पादक के जितने भी साधन हैं सत्य आदि गुण के उत्पादन करने में जो भी सहायक है ये हमारे लिए पर्याप्त हो गए तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में स्वामी जी ने लिखा है आप हम पुत्र लोगों को सुखी देख के अत्यंत प्रसन्न हों और हम भी प्रसन्नता से आप और जो आपकी सत्य आज्ञा उसमें तत्पर रहे तो अब इसमें ईश्वर से कहा गया है हम ठीक ठाक रहेंगे तो आप भी ठीक रहेंगे प्रसन्न रहेंगे तो यहाँ भी वही नियम लागू ईश्वर को दुख तो होगा नहीं हम चाहे जितने बिगड़ जाए तो हमारे बिगड़ने से ईश्वर को सीधा दुख नहीं होता है और हमारे ठीक होने से भी ईश्वर को सीधा प्रसन्नता नहीं होती है माँ बाप को या गुरु आदि को जैसे लोक में होता है ऐसा ऐसा राज ईश्वर को नहीं होगा लेकिन इसका अभिप्राय यही होगा कि अगर कोई ठीक होता है तो ईश्वर मानता तो है ना कि ये ठीक है और ठीक नहीं रहता है तो मानना तो होता है कि ये ठीक नहीं है तो मानने की स्थिति केवल यहाँ अर्थ आएगा कि ईश्वर को हमारे विषय में लगे कि हाँ ये ठीक है तो वो भी निश्चिंत हो जाएंगे हाँ चलो ये अपना काम अब कर लेगा नहीं तो बार बार भी टोकते तो रहना पड़ेगा कम से कम वो टोकने की स्थिति ना आए हमारे अंदर तो ये इसका अर्थ होगा कि अर्थात हम अपने आचरण को व्यवहार को ठीक ठीक ईश्वर के अनुकूल करने लग जाए या होते रह जाए होने लग जाए यही यहाँ प्रार्थना की गई है मंत्र में